वैसे ही वो भोजन वो खा नहीं रहा है पक्षी ने न खाया न सूंघा ये खा या कुछ नहीं उसने कुछ ऐसे सांग के अंदर परिवर्तन इसके आधार पर राजा समझ लेता है ये भोजन जिंदा तो राजा जो भोजन में जो प्रवृत्ति हुई या नहीं हुई तो दिन में कौन बन गया चकोर चकोर के आम साफ है और राजा की प्रवृत्ति चकोर का आम गड़बड़ा गया राजा प्रवृत्ति नहीं हो रहा प्रवृत्ति किसमें है राजा का भोजन खाने ना खाने में लेकिन निमित्त कौन होगा सूक्ष्म और जब मन का मामला है वो विषय में प्रवृत्त हो रहा है लेकिन किसके अधिष्ठान में किसके निमित्त से आत्मा का ये आत्मा से चेतन का प्राप्त न हो तो प्रवृत्ति ना हो किसी प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण मुख्य रूप से ना आत्मा की चेतन का इसे नित्य चित स्वरूपतया नित्य मात्र प्रवृत्त लिप्त चिकित्सा रक्त दृष्टान दिया लिप्त चिकित्सा चकोर पक्षी संशय का निवारण करने वाला जो अधिष्ठाता पक्षी है प्राण थे नासिक अभव के न प्राण प्रथम कोई भी जाना उसने प्राण हमारे नासिका में होने वाला जो वायु बात चला रहे हैं इस सूत्र से प्रकरण प्रकरणा छठा है ना बड़ा छह छह प्रथमत्व चलन क्रियाया प्राण निमित्त कहते हैं प्रकरण के आधार पर आपने वायु को ले लिया कारण से मुख्य प्राण को क्यों हो कारण ये है प्रथमत्व उसके अंदर कथा है विशेषण दिया प्रथमत्व विशेषण पंच प्राणों का मुख्य प्राण लोग है प्रथमत्व नहीं आएगा क्योंकि वो अंदर रहने की संज्ञा को प्राप्त किया प्राण अपान ज्ञान उदान समान जो है बाह्य सुंदरता नाथाभ्यंतरवर्ती जो है वही भी अंदर जा करेंगे क्रिया भेद से और सारात्मक उपाधि भेद से सूर्या को प्राप्त एक को भी प्राणापान सूर्या लगते सुंदर उसमें आना हिंदी तो स्थान को लेकर के लिया ऊर्ध तो गमन अधिगमन क्रिया को लेकर के लिया मैंने स्थान उपाधि क्रिया पद को लेकर के वो संज्ञान होते इसलिए उन पंचप्राणों में से जो प्राण है गुण या नहीं लेना प्राण शब्द उसी का नासिका में आ रहा है तो विभाजन होने की गुरु स्थित है तो उसको लेना है क्योंकि उसमें प्रथम प्रकरण के अनुसार घट सकता है चलन क्रिया प्रणिमित क्योंकि जो चलन क्रिया हो रहा है किसी भी प्रकार के हमारे अंदर हलचल हो रहा है इंद्रियों की प्रवृत्ति है मन की प्रवृत्ति है किसी भी प्रकार की चलन क्रिया चलने का मन पैर चलना और नहीं है सर्व के सकल प्रकार का जो हलचल हो रहा है जो अंदर में उस हलचल का कारण को है प्राण निमित्त प्राण कई निमित्त से होता है सतो विषयाभास मात्र करणाराम प्रवृत्ति ही इसलिए कहते स्वतो स्वतः में प्राणो अनपेक्षा अनपेक्ष प्राण जो है अन्य प्रकृतियों की अपेक्षा किए बिना ही स्वतः ही विषयों का अभास मात्र में कर्णों का प्रवृत्ति करा देता है क्षण क्रिया तो प्राण क्रिया मनादिश नहीं ये शरीर के विभिन्न अंगों के ही नहीं मूल नहीं बल्कि सूक्ष्म में जो मनादि है उनमें होने वाला जो प्रवृत्ति है उसके प्रति प्राण ही कारण है तस्मात प्राथम्यम प्राण से नहीं कुछ इसीलिए प्राण गलत प्राथम्य कहा गया कार जो प्राण है वो प्रयुक्त में कुछ युक्ता मैंने प्रयुक्त प्रेरित वाचो इसे वाचो वजनम किम निमित्तम प्राणी नाम चक्षुश्रोत प्राणियों के अंदर जो वाणी का जो प्रवृत्ति है चक्षुर श्रोत्र की जो प्रवृत्ति है वो कौन सी देव से प्रवृत्ति कर्णानाम चेतनावान यह सा किम विशेषण प्रबल मंत्र जानी छोड़ी है कि भाई सबल करणों का अधिष्ठाता को चेतन वाला कौन है और उसका क्या विशेषण है क्यों विशेषण हो हाँ। उसका विशेष स्वरूप क्या हो सकता है विशेषण मैंने व्यावर्तक धर्म अन्यों से व्यावर्तन करने वाला उसमें कौन सा धर्म है ये बताओ प्रश्न पूछा जवाब देते हैं श्रोत्र से श्रोत्र मन सो मनाया तो श्रोत श्रोत्र इत्यादि प्रतिवचन निर्विशेष निमित्त इत्यादि जो जवाब है उस निर्विशेष के अंदर निमित्त को संपादन करने क्योंकि नाम ही नहीं कोई धर्म विशेष बता नहीं कोई धर्म अमुक धर्म वाला है बता देना चाहिए ना ऐसा का आंखों का भी आंख है कानों का भी कान है तो मन का जो मन है विचित्र जवाब विचित्र जवाब दे दिया तब कहते जवाब के द्वारा निर्विशेष के अंदर निमित्त रूपी धर्म मिलित निमित्तम अर्थ में अभिधेयम वेदन अर्थ नहीं अर्थ में अभिधेय विक्रियादि विशेष रहित आत्मनो मनादि प्रवृत्त निमित्तम इत्यादि श्रोत्र श्रोत्र इत्यादि प्रतिवचन से अर्थ इस जवाब का अर्थ है समझो विक्रियादि विशेष रही आत्मा आत्मा कैसा है विक्रियादि विशेष रहित है मनाली प्रवृत्ति में निमित्त मनाली प्रवृत्ति निमित्त वाला है यही बात को श्रोत्र श्रोत इत्यादि प्रतिवचन कार है अनुगमा जैसे कैसे अनुगमा क्योंकि अनुगम ब्रह्म तत्व का सात तत्व का अनुगम हम समझ अनुगमा तो मतलब क्या अरे तक अनुगता ही अत्र अस्मिन अर्थ है अक्षरा कहते हैं अतः अस्मिन अर्थ इस मंत्र में इसी अर्थ को बताने के लिए निमित्त रूपी अर्थ को बताने के लिए ही सकल अक्षर मैंने श्रोत श्रोतम मनोजत तो इतने जितने भी अक्षर हैं मैंने शब्द समूह है ये सारे सारे समूह जो है ना किसी निमित्त अर्थ का प्रतिपादन करने में ही अनुगता अनुगता निबंधी परस्पर अनुगत हो कथम ऐसा उत्पत्ति करूंगा समझ में आएगा ये सुनोद अनिल जिसके द्वारा हम सुना करते हैं तथ्य शब्द अवभाषितम तादृश स्त्रोत्र के अंदर विशेष है शब्द को अवभाषित करना यही स्रोत का सूत्र सुनते ही इससे सुनकर के इससे क्या होता है उनको इससे शब्द का अवभाषण होता है और तो इसके अंदर जड़ वस्तु के अंदर जो शब्दावभाष तत्व आया है वाक्य क्या है तो उसके लिए उस अवभाषक तत्व का जो निमित्त है उसी का नाम क्षेत्र तद अधीनम तद यद अधीनम स आत्मा तद यद अधीनम वह यह जो अवभाषकत्व जिसके अधीन होकर के आया हुआ है उसी का नाम आत्मा श्रुति सूत्र नित्युक्ता श्रुति शब्दानुवादकत्व आत्मा उपलक्ष्य इसे होता क्या है शब्दावर्तक के द्वारा आत्मा को उपलक्षित किया जाता है उपलक्षण में उपलक्षण में क्या होता है विशेषण में उपाधि में और उपलक्षण में क्या अंतर है और तीनों कार को समझना चाहिए अलग अलग जिसे घटाओगे कैसे काम कैसे चलेगा ये में दूसरा जान परिभाषा का बात पहले वाला जैसे कि गुलाब लाल गुलाब लाओ बोल दिया लाल रंग का गुलाब लाओ तो क्या होता है लाल रंग गुलाब में विद्यमान है या नहीं हम्म। गुलाब में विद्यमान है और लाल रंग इतर का व्यावर्तन भी कर रहा है हम्म। उन्हें हरा गुलाब नहीं लाना सफेद गुलाब नहीं लाना नहीं वो हरा नीला पीला सफेद को व्यावर्तन भी कर रहा है और जब लाओगे तो लाना रूपी क्रिया में तो लाल रंग भी तो होता भी नहीं होता है गुलाब के द्वारा केवल गुलाब लाओगे रंग को छोड़ के लाल को वहां ऐसा तो नहीं सकता तो लाल रंग भी गुलाब द्वारा क्रिया में अन्वित हो गया इसलिए लाल को उस गुलाब का विशेषण कहा जाएगा उपाधि में देख लो आप जैसे उपाधि में क्या होता है उसमें ले लो आप स्फटिक में लाल स्फटिक दिख रहा है क्यों है चेता कुसुम है विद्यमानता अन्य उनसे व्यावर्तन भी कर दिया और कार्य कार्य नहीं स्फटिक को हम ला रहे हैं तो लाल रंग तो आएगा नहीं वो तो रहेगा कुसुम के साथ पुष्प में लाल था ना वो तो स्फटिक में नहीं था तो स्फटिक को लाओगे और तो लाए ला आने रूपी क्रिया में स्फटिक मात्र का अनुभव होता है और रक्तत्व तो का अनुभव कार्य और उपलक्षण में काकोद्ग्रह आपने देखा दूर से आपको दिखा दिया ये जो कवा बैठा है ना तो वही घर है जब तक आप गए वो तो चंचल है वो तो उड़ गया जब आप जाके मकान को पहचानते हैं उस समय कौन वहां है लेकिन उस अन्य मकानों से व्यावर्तन भी कर दिया और आप उस मकान से जो व्यवहार करेंगे उस वहां उस पवा को ही अनुभव नहीं लेकिन अविद्यमान होता हुआ कार्य अनुभव होता हुआ जो व्यावर्तक होता है वो उपलक्षण होता है इसी प्रकार से इस ब्रह्म रूपी आत्मा ने इस श्रोत्र इंद्रिय कितना होगा इतना अवधाधक आदित्यमान और ये जो कार्य हो रहा है इस कार्य में उसका अनुभव इंद्र तो निष्क्रिय निष्फल है निर्गुण निराकार शुद्ध है यदि वो श्रोत्र क्या करता है उस आत्मा को पहचानने में अन्य का व्यावर्तन भी करना है इसलिए श्रोत्र उस आत्मा का उपलक्षण हो गया इसलिए कहते कि देखो यहाँ पर टिप्पण कार ने लिखा कि वो शब्दवाचक आत्मा उपलक्ष्य श्रोत्र की श्रोत्र इत्यादि कह करके श्रोत के अंदर शब्दवाचकत्व है उसके द्वारा आत्मा को उपलक्षित किया जाता है आत्मशिक्षित रूप में श्रोत्र से शब्दोपलब्धि रूपतया अवभाषकत्व न स्वतः अवभाषकत्व किस रूप से आत्मा में जो है ना साक्षात अवभाषकत्व नहीं है तो कभी शब्दोपलब्धि रूपतया अभाषकत्व न खुद प्रकाश रूप है उसको भी प्रकाशक है कार्य की जरूरत नहीं है शब्द की हमें उपलब्धि हुई है उस उपलब्धि के प्रति जो है अवभाषकता हम आत्मा में मान रहे हैं इधर शब्द उपलब्धि रूपतया शब्द का उपलब्धा कौन है उसकी जो है अवभाषक के रूप में हम उस ग्रहण कर रहे आत्मा में अवभाष हैं स्वतः ही आत्मा में अवभाष करते नहीं हो सकता यही क्यों श्रोत्र से अचित रूप ये श्रोत क्या है जड़ वो तो चित्र रूप तो है नहीं इसलिए उसके अंदर भी अवभाषगत जो हम कह रहे हैं श्रोत्र में भी वो भी साक्षात नहीं हो सकता किंतु शब्द का उपलब्धा हो शब्द की उपलब्धि में हमें मदद कर रहा है इसलिए उसके तरह अवभाष करते माने आत्म से चिद तो एक आत्मा ही चित्रूप रूप है वही अवभाषक हो सकता है और कोई दूसरा कोई अवभाषक हो नहीं सकता इसलिए श्रोत इंद्र में जो शब्द अवभाषक आया है वह आत्मा के वजह से आया है उसके अपने स्वतः नहीं हो सकता एक श्रोत से उपलब्धित्व अवभाषकत्व जो श्रोत इंद्र के अंदर हमने शब्द उपलब्धित्व अवभाषकत्व माने है वह तद आत्मनित्व स्वरूप स्वरूप वो आत्मा के कारण से ही आया हुआ है आत्मनिमित है अतएव जो श्रोत स्वरूप में जो होता कथन है वह सम्यक हो जाता है इस प्रकार से अत्यात्मी अर्थाक्षराणी अनुगतानी अनुय निमित्त का बोध कराने में ही सारा का सारा वाक्यार्थ का अन्वय हो रहा है ये जो कहा गया था प्रतिज्ञा वाक्य या सूत्रार्थ अनुगमान उसकी व्याख्या होगी और समझाएंगे कैसे अच्छा कोई दृष्टांत है क्या दुनिया में <laughs> कहते यद्यपि दुनिया में तो कोई दृष्टांत तो नहीं कौन सी दृष्टांत समझाओगे आप जैसे कल भी चर्चा हो रही थी तो आए हुए से तो उनको ये आम आदमी की बात समझ में नहीं आ सकती है कि भगवान बिना कोई कारण का बिना कोई कामना का बिना कोई हेतु का पर कृपा कर बनते हैं जिन्हें कम खाने में पड़े ये गाय को मौका दिया उदाहरण उनका कैसे क्यों कर रहा है क्या जरूर हमारे कल्याण से मिलेगा दुनिया की अहित कृपा हमारे सरकार करते हैं अहित की कृपा जो भगवान की है वो क्या समझे कैसे समझा वो दृष्टान सबक नहीं हमें आप हर नहीं इसमें अपना चिंतन हो रहा है अपना स्वाध्याय हो रहा है भाड़ प्रवृत्ति जड़ गए हो फिर कहते प्रवृत्ति हो रही है उसमें जाति मेरा बेटा जरूरी है कि पुष्ट हो तभी ऐसे स्वभाव भी क्यों ऐसे स्वभाव वाले भाव स्वभाव क्या समस्या है इसलिए स्वभाव तो उठाई देती की प्रकृति है कुछ दिक्कत नहीं देगी कैसा निर्णय करोगे व्यवस्था नहीं बन सकता है ये सकता है पिता क्या है द्वारा पुत्र पैदा हुआ अब वो पुत्र क्या है उसका निमित्त कौन है इसमें आ रही है था एक परमेटी इस प्रकार का दृष्टान देना पड़ा कि क्षत्रियों के अंदर क्षत्रत्व स्त्री प्रतिष्ठा चाहते अठारह रहने का तेरे से युद्ध कराएगा तो फालतू बात करने से काम चलेगा मन है जैसे पता जाता है महापुरुष बैठे हुए हैं ऐसी भड़केला भाषण नहीं दो पता चले कितने शक्तियां हो इनके अंदर चले जाओ समझ इधर दुनिया है प्रसन्न हो रहा है कृष्ण प्रसन्न तो हो रहा है क्योंकि लाभ की दिया तो जगह के अंदर भी आप दृत्व क्यों मानेंगे आत्मा के कारण से उपलब्ध है श्रोता ऐसे उपलब्ध

कर देता है चौपाई के प्रधान नहीं होना चाहिए कथा प्रश्न जवाब तो हमें कैसे देंगे और उसमें स्वरूप निर्देश पर करना होगा प्रथम यही वचन स्वरूप निर्देश का ही प्रश्न था इसलिए प्रथमान के द्वारा स्वरूप निर्देश कर दिया गया है नित्या पृष्ठ स्वयं इतम भाव जो शरीर पूछा हुआ है वो ऐसा है इस प्रकार से कहने का जैसे व्यवहार होता है उसी प्रकार वहां पर भी जीवता पृष्ठ से निर्दिष्ट से जो निर्दिष्ट वस्तु है वो कैसा होगा वह जो ज्ञान होने के कारण से उसमें कर्मत होकर के द्वितीय व्यक्ति होती है तमे तमे विधम जानी ही ज्ञान विषय उसको इसी प्रकार से जानो उसको इसी प्रकार से जानो ऐसे जाना है तो कर्म निमित्त तो करना पड़ जाएगा अतो वाचो हो वाचन प्राण से प्राण सर्वत विभक्ति हमें इस प्रकार से विभक्त का प्रयोग करना ही पड़ेगा यदि उपलब्धि निमित्तम श्रोत्र श्रोत्र इत्यादि लक्षण नित्योपलब्धि स्वरूपम निरीशम आत्मतत्व बुद्धवा अति जिसलिए वह यह जो श्रोत्रादि उपलब्धि के निमित्त श्रोत्रादि में जो उपलब्धित्व आया हुआ है उस उपलब्धित्व का अभ्यास का कारण निमित्त होता श्रुति श्रुत इत्यादि मंत्र पर लक्षित नित्योपलब्धि रूप निर्विशेष तत्व है उसको जब जान लोगे जानने के बाद क्या होगा दुनिया तो क्या लाभ है लाभ यह है कि अतिमुच्च अनवबोध निमित्त अध्यारोपिता बुद्धि लक्षण संसारात्मोक्षण कृपा उनकी जो है वो उच्च धीरा है ना उच्च की व्याख्या करते हैं कि जो है अनुबोध निमित्ता अज्ञान के कारणों से जो अध्यारोप हो चुका था अनात्म में आत्मबुद्धि और आत्मा में अनात्मबुद्धि का अध्यारोप जो हुआ था बुद्धि जो आरोप है आज सार संसार से मोक्ष मोक्ष को प्राप्त करके गिरा मान जीवंत प्रयुक्त अस्मात लोका संयाम इस शरीर से निकल करके कृपया वियुज्य अन्य अप्रतिसंगी माने लेकिन दूसरा कोई शरीर उसका प्रतिसंधान विषय नहीं बनता है क्योंकि वह हथियारों को ध्वंस कर दे क्या कर जब निश्चय कर लिया कोई कर्म अवशेष नहीं रह जाता सारा कर्म क्षय हो गया शरीर मर रहा है उस समय और कोई कर्म रहा ही नहीं जिससे जो कि अगले शरीर के प्रति प्रारूप बन जाए जिसके आधार पर हमें इसी शरीर में रहते हुए अगला योगी दिखाई दे ऐसा ही होता है इसलिए क्या होता है कहते इसलिए का अन्य अप्रतिसंधीय माने करनी प्रतिसंधान नहीं होता जनु का न्याय से नियम यही है जैसे जनु का होता है जो जो जो यू करते रहता है जो कहीं छपा रखता है तो कम यू घूमते रहता है वो अगला आ गया तो वो पकड़ यू छोड़ देता और यूं करके सो जाएगा यूं करके चलता है अगर दूसरे को छोड़ता नहीं जब अगला आश्रय ना मिले तो पीछे वाले को छोड़ता नहीं जीव उसी प्रकार यहाँ कर रही जो जीवात्मा इस शरीर के अंदर है वो अगला शरीर को जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक जो है इस शरीर को छोड़ेगा जो आपके पास संचित कर्म है इस जन्म में जो क्रियमान कर्म थे कारक तो इस शरीर का जो था क्षय हो गया मौन दशा में है उस क्षण में क्या होता है वो संचित कर्मों में सिर्फ क्रियमान कर्म मिल करके कुछ उनमें से निकल आते हुए और आपके सामने प्राण कर्म हो एक स्वरूप बन जाता है और वो आपको कुत्ता बिल्ली गोरा आदमी औरत जो आपको बनना होगा उसके अनुसार वो दृश्य दिखा देगा वो जो जैसा भी दृश्य उसमें आपका मोह हो जाता है आपको ये छोड़ देंगे फिर उसमें भी हो जाएगा ये दुख तो हो ही रखा है बीमारी हमारे बहुत कुछ हो रखा है और यहाँ से निकलना चाह ही रहे हैं और अगला जो भी दिखाई देता है बहुत अच्छा लगा उस वर्ग दिखाई देगा तो नहीं रहा जब वहां गया तो घर छोड़ गया ये मुझे बहुत सुंदर लेकिन तभी नहीं प्रतिसंधान होगा जब आपका संचित कर्म हो क्रियमाण कर्म हो उनमें से कुछ निकल के तार कर्म बंद करके उस तार कर्मानुरूप शरीर दिखाए तभी देगा और हाँ, उस कर देखो जब कर्म ही नहीं रह गया ज्ञान नष्ट कर दिया सारा संचित ग्रह को हाँ, सारा क्या हाँ, अर्जुन हाँ, सबको इसलिए कहते कि देखो अप्रतिसंधि हमारे भवन निर्निमित अब वो निमित्त रहा नहीं पुनर्जन्म के लिए इसलिए अमृता भवंती अमर हो जाते हैं अर्थात शुद्ध ब्रह्म रूप प्राप्त हो कभी भी अज्ञाने कर्माणी शरीरांतर प्रतिसंग अज्ञान होता तो कर्म भी रहते कर्म के आधार पर अगला शरीर का आप अनुसंधान भी कर सकते आत्मा तू और आत्मा का जब अवबोध हो गया सर्वकर्म आरंभ निमित्त अज्ञान विपरीत विद्या अग्नि विपृष्ट विद्या रूपी अग्नि से जला दिया गया कर्मणाम की अनारंभे अमृत भवंती आत्मज्ञान के द्वारा होने आत्मा आत्मा बोध हो गया पर आत्म साक्षात्कार होने पर सर्व कर्म आरंभ निमित्त समस्त कर्म का आरंभ का निमित्त क्या था अज्ञान उसके विपरीत विद्या मिली वह विद्या क्या है अग्नि रूप है वो सबको जला कर्मों को जला देती है यदि अनारंभ है ये सर्वांतर का आरंभ नहीं हुआ तो अमृदय भवंती शरीर आदि संतान अनुच्छेद प्रसंधान आदि अपेक्षा क्योंकि शरीर आदि की धारा चली हुई है उस धारा का अविच्छेद जो हो रहा था आज तक धारा चल पड़ी अविच्छिन्न धारा चल रहा था और उसी का प्रसंधान प्रसंधान आदि अपेक्षा उसका जो प्रसंधान की अपेक्षा से अध्यारोपित मृत्यु भी होगा अध्यारोपित मृत्यु का वियोग होने पर पूर्वम अपनी अमृता संभव उसको अनुभव नहीं होता था अरे भाई पहले से जब अमरी थी अमरी थी और ये आगे भी नित्य आत्मस्वरूप अमृता भवंती नित्य आत्मस्वरूप वाले होने का उनसे हम अमर है इति उपक्षणीय है यदि पहले से भी अमर ही है और ज्ञान की वजह से अध्यारोपित था कि जो शरीर के संतान की धारा शरीर की जो जन्म मरण के चक्कर से अनंत शरीर की धारा आरोपी पहले से भी अमृत है अब भी अमृत ही है इसलिए अमृत हो रहेंगे ऐसा ही ना हो जाएंगे यहाँ ईगो खोने के बराबर लगता है क्योंकि खोया हुआ मिलने के बराबर है मिला कहा अरे खोया ही नहीं था जो खोया हो तो नहीं मिला कहीं कले में लटका रखे हो और ढूंढ रहे हो दुनिया में तो खोया कहाँ था वो माला नहाते तो क्या रख लिया अब पीछे जो है गर्म पानी बनी नहीं दोबारा पहन लिए और नारी पहले में नारी भूल चुके और उसके बाद में ढूंढ रहे नहीं हम दिन लटका रखा कहा गया क्योंकि आप वो बात दिमाग में याद है जो शुरू में आपने लटका बीच में कहीं मिले हुआ बड़े बड़े के साथ हो जाते चश्मे की काम हमारे गुरु जी का रामानी जी महाराज जो है उनका रेशर वाले चश्मा हम चश्मा हमको लोग दिए थे उसने रखा रखा के दूध को लिए गर्म था पूरे उसको रखा दुर्गा तैरने के बाद जगह गर्म होती है बाहर बचेंगे गिलास तो मैं उठा के ले जाऊँ तो मैं भी चला गया फिर आया जगह तो वही एक गिलास मजा मारा ठंडा हो गया तो फिर उन्होंने उठाया घर को जब पी लिए और फिर चश्मा ढूंढ रहे यहाँ रखा तो था पीने के लिए पीने से पहले मैं यहाँ रखा था गया वहां हंस रहे हैं क्या था मुझे परेशानी नहीं दिख रही अभी पंखा है देख रहा है को कदम मारे छोड़े अंदर छोड़े होंगे अंदर गया ही नहीं था मैंने कहा हो सकता है छोटा देखिए अंदर दौड़ाया हम तो अंदर गए महाराज जैसे ना हो लंबी शंका करने गए तो वहां तो नहीं छूट गई तो वहां दौड़ा दौड़ाया हमने वहां ही गए भाई पूरा करके देखते हैं देखा साल तो दौड़ा रहे है कहा अब ढूंढी देखी सोची वैसे तो कोई किस्टा नहीं बैठती है कहा गया अरे मैंने कहा महाराज हमको पढ़ाते हो गए आप पता चल गए ऐसे माता और टार्च रहे पढ़ रहे थे बिजली चली यहाँ रुकते थे टार्च उठाया देख रहे थे पढ़ रहे अब बिजली आ गई टार्च को पकड़ के साथ और ये करके फिर निकल गई यहाँ जाना जाते हैं अब यहाँ तो इधर है हाथ में और भी कर दिया उसको उन्होंने हमारे पास पास लेकर हम लोग के पास है और कहते हनुमान जी आपकी बदमाशी बहुत हो गई तो हमारे पास का छिपा दिया ये चलो मार्ग के पास मैं देख रहा हूँ चार पास मैंने मार्ग के पास कंप्लेट करूंगा हम क्या किए हम तो तुम्हारे कमरे में गई नहीं चार पर तो बिजली गई आई चलो हमारे पास हमारा जो तो देगा तो हम जब मेरा करते रहते हैं हमारे पांचों छिपा दी हम पकड़ रहे थे तो ध्यान करते हैं तुम्हारे जिले के हाथ में क्या चलो क्यों और खोया कहा तो चश्मा खोया ना पार्स खोया हाथ में ही था उसी से देख भी रहे उसी से ढूंढ रहे तो उसी आत्मा से आत्मा के प्रकार से हम आत्मा को ढूंढ रहे हैं मिला कहा बीच की भ्रांति को इसलिए हम कहते हैं नित्या सर्वसाद अमृता भगवंती स्थिति औपचारिक अमृत थे अमृत है अमृत होंगे ये बात औपचारिक क्योंकि नित्य आपको उपलब्धि स्वरूप है है तो आचार्य ने जवाब दे दिया न तत्र चक्षुर न न मनो फिर भी शिष्य पूछता है तो इसका मतलब है पर नियोग कर दिया पूछ कर दोबारा गुरु जी को लगा दिया जवाब देने में इसका कारण यह है कि आप प्रतिपत्ति है कारण है कि शिष्य को प्रतिपत्ति नहीं हुई बोध नहीं हुआ क्योंकि उपदेश बता दिया ब्रह्मनिष्ठ हो गया जब पूछा तो उसका जवाब दे दिया उसने बोल निराकार निर्विशेष निष्कल निष्क्रिय ब्रह्म ही वास्तव में अपनी सत्कार प्रकाश के द्वारा चक्षुरा सभी इंद्रियों को कर्णों को प्रेरणा देता है उपलब्धित्व कर स्थापना करता है ये बात कह दिया गया था फिर भी आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं थी किंतु शिष्य पूछता है कि अभी समझ में नहीं आया इसलिए हमको कहना पड़ा और आगे प्रारंभ हो गया तीसरा किसी को समझा रहे हेतु तो प्रतिबद्ध है पर यह हेतु तो अप्रतिबद्ध है पुनः प्रश्न का कारण अप्रतिबद्धि है इसी को स्पष्ट कर दूसरा मंत्र का श्रोत्र श्रोत इत्यादि मंत्र के द्वारा आचार्य ने आत्मरूप के बारे में कह दिया फिर भी अप्रतिबंध सूक्ष्म सूक्ष्म होने के कारण शिष्य को सीधा ग्रहण नहीं हो पाया इसलिए वस्तु न सूक्ष्म तो हो अप्रतिबंधता सूक्ष्म तो सूक्ष्म अपनी सूक्ष्म वस्तु होने के कारण से शिष्य को ज्ञान नहीं हुआ इसलिए उस वस्तु के बारे में पुनः पुनः पर इसलिए पुनः पुनः परियन योग करने की इच्छा वह शिष्य ने जाहिर किया उसी को देखते हुए जवाब में गुरु करता ने कर प्रचक्षण परिनिक्षा पौन पुण्यम परिणियों बारम्बार जो है किसी को किसी काम में लगाना और बताओ और बताओ जैसे जो है चांदोगी में नौ बार लगाया उसको तो नौ बार सुनना पड़ा बारह बार इनका और नहीं समझ में आ रहा है तो जिज्ञास होती अभी और नहीं समझ में आया तो नारायण जी गए जी करते शरद कुमार इससे भी आगे और क्या है बताओ इतने भूल इससे भी आगे क्या है ऐसे करते करते करते जीवाब चलते जाता है अंत तक पहुंचते के जनक के साथ जनक याज्ञों ने सेवन किया यज्ञ जी ऐसे ही आ गए थे साधु के पास कोई विचार नहीं था और पूछा भी कैसे आना हुआ हमको तो कुछ कहा आपने पहले हमको कसम खा की कहे थे जब चाहो तो मेरे से कुछ ही पूछ फिर मैं कुछ पूछना चाहता और ऐसे पूछते ऐसे पूछते पूरा खा लेता पूरा ब्रह्म ज्ञान नहीं है इसमें एक बार बीच भी चालाक है छोड़ेगा ही नहीं लगता कुछ ये होता है शिष्य जो गुरु को किस तरह से प्रेरणा लेता है जानने के लिए उसके ऊपर निर्भर है कोई गुरु ने छिपाता है नहीं कोई बात वो धड़ने सब बोलते जाता है निर्भर उसके लेने वाला वो सही हो और सही ढंग से पेश आता है सही ढंग से पूछता है तो उसे प्रेरणा होती जाती है और बोलती जाती और नहीं है तो वहां से सत्र ठीक नहीं बन रहा है तो फिर बोले हाँ ठीक है चलेगा संसार ऐसे चलता है टालना पड़ता है तो टाल मटन हो जाते हैं हम शिष्य के ऊपर अब आने शिष्य परिनियोग कर रहा है गुरु को दोबारा लगा दिया और गुरु भगवता तर चक्षु तथा मन श्रोत्याभूते चक्षुरादिवाप्यक्ष सर्वेन्द्रियो परक्षणार्थात न विज्ञान तंत्र वाक ये जो कार्य है चक्षु से लेना वाक से लेना श्रोत्रादि का भी जो आत्मस्वरूभूत वस्तु है उस वस्तु में चक्षुरादीनी इतने बहुवचन ले लिया क्योंकि नक्षत्र चक्ष गच्छते न वाक गच्छति के द्वारा वाक और चक्ष दो शब्दों के द्वारा सर्व इंद्रियों को उपलक्षण कर दिया गया है इसलिए न मैंने चक्षुरादि आत्मभूत विषय न विज्ञान उत्पादी ये चक्षुरादि इंद्रिया है जैसे घटादि विषय में विज्ञान को उत्पन्न कर लेते हैं उस प्रकार से चक्षुरादि इंद्रिया आत्म विषय में विज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकते सुखाधिवत्तर है इस सुखादियों के समान अंतकल मन के दुर्ग्रहण कर सकते हैं आप लोग तो मन भी दुर्गो विषय भी बना सकता न सुखादि मनसो तो विषय हस्ता सुखादि के समान मन का भी विषय आत्मा अगला सूत्र वह क्या आया इंद्रिय विषयता इस प्रकार के समाधान करके वर्णित